कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर पाँच भाग दो यह अक्षर ही परब्रह्म है यम कह रहा है कि इस यह अक्षर ही तो ब्रह्म यह अक्षर ही परम ब्रह्म इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है इस अक्षर को जानते ही इस ओंकार की ध्वनि के साथ एक होते ही जो भी वासना है वो तत्क्षण पूरी हो जाती इसलिए शर्त है कि वासनाएं छोड़कर ही ओंकार की साधना करनी है नहीं तो आप क्षुद्र से भर जाएंगे और विराट की ऊर्जा छुद्र में खो जाएगी जो मिला था उसे आप नष्ट कर देंगे हीरा मिला था आप कंकड़ खरीद लेंगे हीरा दे देंगे इसलिए इतनी ज्यादा यम ने परीक्षा ली कि कोई वासना तो नहीं है नचकेता में और जब पाया है कि कोई वासना नहीं वैराग्य का भाव पूरा है तब वो बताने को राजी हुआ है लेकिन जो व्यक्ति निर्वासना से भर के ओंकार की साधना में डूब जाता है उसकी एक ही प्यास शेष रहती है परमात्मा से मिल जाने की परम सत्य से एक हो जाने की लीन हो जाने की महासागर में बूंद की भांति खो जाने की बस वो इच्छा पूरी हो जाती ओंकार की ध्वनि के स्फुरना के साथ ही जो भी प्यास शेष रहती है वो तत्क्षण पूरी हो जाती ओंकार वैसा ही सूत्र है जैसा कि एटॉमिक फिजिक्स का सूत्र कि हाथ में पड़ते ही विनाश का महामंत्र मिल गया आइंस्टीन ने कहा है मरने के कुछ दिन पहले कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं किसी गांव में प्लंबर होना पसंद करूंगा लेकिन अब दोबारा आइंस्टीन होने की इच्छा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ से विनाश की शक्ति का सूत्र निकल रहा है ये सृजन की शक्ति का सूत्र है ये महासृजन की शक्ति का सूत्र है इससे हम जीवन के मूल केंद्र पर पहुंच जाते हैं जहां से सारी सृष्टि विकसित हुई उस गंगोत्री पर जहां से जीवन की सारी गंगा बहती लेकिन उसके पहले सारी वासनाएं जड़ मूल से खो जानी चाहिए इसलिए मेरा इतना आग्रह कैथारसिस का कि आपका सब तरह से रेचन हो जाना चाहिए अगर जरा भी कुछ रोग आपके भीतर पड़े रह गए और ध्यान आपका सधने लगा तो वे रोग आपको बहुत बुरी तरह सताएंगे उनका हट जाना जरूरी क्योंकि ध्यान महाशक्ति है अगर रोग मौजूद रहे तो वो महाशक्ति रोगों को मिल जाएगी वो रोग हट जाने चाहिए लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं इस उछलने कूदने से क्या होगा चिल्लाने रोने से क्या होगा उन्हें पता नहीं कि क्या हो सकता है जब कोई घर में मर जाए और रोना आता हो आप मत रोएं रोक लें रोने को तब आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है ना रोने से क्या हो सकता है सारे प्राण सिकुड़ जाएंगे भीतर दुख ही दुख भर जाए आप एक घाव हो जाएंगे जो रिसने लगेगा और जब तक आप रो ना लेंगे भरपूर तब तक इस घाव से छुटकारा ना होगा मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो कि बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है आमतौर से जैसा हम समझते हैं स्त्रियां ज्यादा पागल होनी चाहिए बजाय पुरुषों की लेकिन बड़ी अजीब बात है स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुष ज्यादा पागल होते हैं होना उल्टा चाहिए क्योंकि स्त्रियां काफी पागल मालूम पड़ती लेकिन पागल होती नहीं राज साफ है पागलपन रोज निकाल लेती इकट्ठा कभी हो नहीं पाता पुरुष बड़ा संभल के चलता है कोई कुछ कहना दे कि क्या ना समझी की बात कर रहे हो स्त्री दिल दिल खोल के रो लेती कोई भी नहीं कहे, कहेगा स्त्री आप रो रहे हैं तो कहेगा क्या मर्द हो के रो रहे हैं आंसू रुक जाए ये मर्दपन पागलपन में ले जाए अगर ज्यादा मर्दगानगी की तो आप पागल खाने में दिखाई पड़ेगा क्यों प्रकृति ने आपकी आंखों में भी उतनी ही आंसू की क्षमता दी है जितनी स्त्री की आंखों में प्रकृति ने भेद नहीं किया उतनी ही ग्लेंस आपकी आंखों में है जितनी स्त्री की अगर प्रकृति को भेद करना होता स्त्री और पुरुष का तो ग्लैंड्स कम होती आंखों में आंसू की पर वो उतनी ही है और ध्यान रहे जो रोने को रोक लेगा उसका हंसना भी रुक जाएगा ये जरा जटिल है क्योंकि जो ठीक से रो नहीं सकता वो ठीक से हंस भी नहीं सकता वो हंसने से भी डरेगा असल में वो सभी चीजों को नियंत्रित करने लगेगा क्योंकि भयभीत है कि कुछ छूट ना जाए कहीं कुछ बंधन ना टूट जाए चीजें बाहर ना निकल पड़े पुरुष ज्यादा पागल होते हैं पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते स्त्रियां कम पागल होती हैं कम आत्महत्या करती हैं बातें बहुत करती हैं कि आत्महत्या कर लेंगे करती कम है वो बातों में ही निकल जाता है मामला इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो बहुत कहता हो आत्महत्या करेंगे उससे निश्चिंत रहना जो कभी ना कहता हो वो खतरनाक वो कभी ना कभी कर सकता है उसने कभी कहा नहीं निकल नहीं पाया सब इकट्ठा होता चला जो आदमी रोज क्रोध करता है छोटी छोटी बातों में उससे डरने की कोई जरूरत नहीं वो उपद्रव कोई नहीं कर सकता वो किसी की हत्या नहीं कर सकता है हत्या के लिए महाक्रोध इकट्ठा होना चाहिए उसमें कभी इकट्ठे नहीं होगा इसलिए छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाले लोग अक्सर प्यारे और भले होते साधु सज्जन जो क्रोध नहीं करेंगे पी जाएंगे ये खतरनाक है इनसे जरा दूर रहना ये दुष्ट है ये किसी भी दिन जब भी करेंगे तो गर्दन से कम नहीं इससे कम में इनका काम ही नहीं चलेगा इन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया आप कहते हैं क्या होगा नाचने कूदने से रोने चिल्लाने से और आपने जिंदगी भर ये सब इकट्ठा कर रखा है वही तो आपका रोग है उसकी वजह से तो आप सरल नहीं हो पाते बच्चे क्यों सरल है उनकी सरलता का कुल एक ही कारण है कि अगर क्रोध है तो बच्चा उछल कूद पूरी कर लेता है हाथ पैर पटक लेता बच्चे को क्रोध में देखे तब जैसे सारी दुनिया की शक्ति उसमें आ जाती है चेहरा लाल हो जाता है आंखें जलने लगती हाथ पैर पटकने लगता छोटा सा लेकिन जैसे विराट उसमें प्रकट होने लगता और क्रोध बह गया और एक क्षण बाद वो हंस रहा है और उसके हंसने में क्रोध का जरा सा भी विकार नहीं उसकी हंसी में क्रोध का जरा सा भी दाग नहीं उसकी हंसी फिर फूल की तरह हमें बड़ी हैरानी होती कि अभी इतने क्रोध से भरा था अब इतना खुश नजर आ रहा है असल में क्रोध बह गया कुछ बचा नहीं जो खुशी को बिगाड़ सके जो खुशी में जहर बन सके क्रोध बह गया बच्चा हंस रहा है फिर क्रोध आएगा फिर क्रोध कर लेगा फिर हंस लेगा खुश होगा दुखी होगा लेकिन जो भी होगा वो क्षण में हो जाएगा इकट्ठा कुछ भी ना होगा जिस दिन बच्चा इकट्ठा करने लगा उसी दिन बचपन मर गया अब बच्चे ने बूढ़ा होना शुरू कर दिया और हम सब कितना इकट्ठा कर लिए उसकी वजह से हम जटिल हैं सरल नहीं और जो सरल नहीं है सहज नहीं है उसका इस भीतर के ओंकार से कोई संबंध नहीं हो सकता इसलिए इतना जोर है कैथारसिस पर रेचन पर कि फेंक दें सब जन्म भर का इकट्ठा हुआ कचरा उसे उसे संभाल के मत चले लेकिन डर है कि कोई देख ना ले कि आप जो कभी नहीं रो रो रहे आपकी प्रतिमा है एक एक इमेज कि आप इस तरह पागलों की तरह खिलखिला के हंस रहे हैं आपसे ऐसी आशा नहीं थी क्या आप ऐसा नाचेंगे कूदेंगे कभी सोचा भी नहीं था दूसरे के भय से अगर आप रोक लेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं दूसरे के भय से अगर आप जी रहे दूसरा अगर आपको नियोजित कर रहा है इतना भी साहस नहीं तो धर्म आपकी यात्रा नहीं हो सकता वो निर्भीक साहसी लोगों का काम है एक मित्र आए हैं वो मुझसे आके बोले कि और तो सब ठीक है लेकिन पत्नी भी साथ आई है तो मैं नाचूं कूदू कुछ तो वो घर जाके तो उनकी एक प्रतिमा सामने वो मिट जाएगी पत्नी उनसे डरी हुई वो भी मुझसे अलग आके कह दे कि पति साथ आए हुए एक दूसरे से डरे हुए लोग ध्यान रहे जिनसे आप डर रहे हैं वो भी आपसे डर रहे हैं इतनी कृपा करें उनसे मत डरें तो वो भी आपसे नहीं डरेंगे इनमें से पति पत्नी में से एक भी उछलने कूदने लगे तो दूसरा स्वतंत्र हो जाएगा कि बात खत्म हो गई अब क्या प्रतिमा अपनी बचानी है जब दूसरे ने नहीं बचाई इस प्रतिमा को बचाने के मोह में हम दमित सप्रेस्ड बने रहते वो दमित व्यक्तित्व मूल स्वरों को नहीं पकड़ सकता वो उतना गहरा नहीं जा सकता गहराई में जाने के लिए सरलता चाहिए निर्दोष सरलता चाहिए बच्चे जैसी सरलता चाहिए आप इन दिनों में यहां बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो जाएं। इस संबंध में एक सूत्र और आपको जोड़ देना है जो कल सुबह से आप प्रयोग करें एक सूत्र मैंने दिया एक विधि रात को करने की सोने के पहले दस मिनट जोर से श्वास को छोड़ें और ओ की आवाज करते हुए छोड़ें और फिर सो जाएं उसी ओ की आवाज करते करते लीन हो जाएं सो जाएं सुबह जैसे ही आपको पता चले कि नींद खुल गई है आंख मत खोलें जैसे ही अनुभव में आ जाए कि नींद खुल गई पहला काम करें जैसा कि बिल्लियां या कुत्ते पूरे शरीर को खींचते हैं तानते हैं वैसा पूरे शरीर के अंगों को खींचे ताने शिथिल करें ताकि पूरे शरीर में शक्ति का प्रवाह हो जाए सारे अंगों को खींचें और ढीला छोड़ दें खींचें और ढीला छोड़ दें पैरों को हाथों को गर्दन को पूरे शरीर को अकड़ाएं और सब तरह से जैसा कि पशु करते हैं ताकि शरीर की शक्ति पूरी तरह प्रवाहित हो जाए ढाई मिनट दो ढाई मिनट अभी भी आंख ना खोलें और जब दो ढाई मिनट ऐसा करने के बाद आप पाए कि स्फूर्ति आ गई सारा शरीर जग गया रोआ रोआ जग गया तब ढाई मिनट तक खिल खिला के पागल की तरह हंसे आंख बंदी रखे उसके बाद ही बिस्तर छोड़े ताकि शुभ मुहूर्त सुबह ही रेचन शुरू हो जाए और जब आप ध्यान करने यहां आए तो पहली तैयारी हो चुकी और डरे मत कि बगल के कमरे का व्यक्ति क्या सोचे उसकी भी सहायता करें आपका करना सुन के उसकी भी हिम्मत बढ़ेगी वो आपसे डरा हुआ है इस प्रयोग को सुबह के लिए जोड़ दें यही अत्युत्तम आलंबन है यही सबका अंतिम आश्रय है इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमा को उपलब्ध होता है नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इससे भी कोई हुआ है अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण है यह अजन्मा नित्य सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है ओम की ध्वनि के माध्यम सहारे से जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं के स्वरूप की झलक पाता है वैसे ही मृत्यु असत्य हो जाती और तब वो देखता है कि भीतर जो है उसे मिटाने का कोई भी उपाय नहीं वो नहीं मिट सकता क्योंकि वो कभी जन्मा नहीं जो जन्मता है वो मरेगा आप नहीं जन्मे हैं माता पिता से केवल आपकी देह जन्मी है देह निर्मित हुई है आप प्रविष्ट हुए हैं उस देह में वैज्ञानिक सोचते हैं कि आज नहीं कल वो टेस्ट ट्यूब में मनुष्य की देह का निर्माण कर ले और इसमें कुछ अड़चन ज्यादा नहीं मालूम होती ये हो जाएगा लेकिन वैज्ञानिक सोच जिस दिन वो मनुष्य को निर्माण कर लेंगे प्रयोगशाला में और मां और पिता के गर्भ की और वीर की कोई भी जरूरत ना रहेगी जिस दिन बच्चा पूरा यंत्रों के बीच यांत्रिक गर्भ में पैदा और बड़ा होगा उनकी धारणा है उस दिन उन्होंने सिद्ध कर दिया होगा कि कोई आत्मा नहीं वो गलती में उससे कुछ भी सिद्ध ना होगा आत्मा का न होना उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि अब तक प्राकृतिक ढंग से शरीर निर्मित होता था और आत्मा उसमें प्रविष्ट होती थी अब शरीर वैज्ञानिक ढंग से निर्मित होने लगा और आत्मा उसमें प्रविष्ट होने लगी आत्मा सिर्फ प्रवेश करती है आत्मा पैदा नहीं होती इसलिए वैज्ञानिक अगर प्रयोगशाला में भी मनुष्य को पैदा कर ले तो भी आत्मा को पैदा नहीं कर रहे हैं वो इस भ्रम में ना पड़े उन्होंने केवल प्राकृतिक शरीर की जगह कृत्रिम शरीर निर्मित कर दिया और जिस दिन शरीर इस योग होगा कृत्रिम शरीर कि आत्मा उसमें प्रवेश कर सके आत्मा प्रवेश कर जाएगी आत्मा अजन्मी है और उसकी कोई मृत्यु भी नहीं शरीर ही बनता और शरीर ही मिटता है लेकिन यह बात कुछ मान लेने की नहीं और यह बात कुछ सिद्धांत की तरह पकड़ लेने की नहीं यह तो तभी समझ में आएगी जब इसका भीतर अनुभव हो जाए इसलिए मैं नहीं कहता कि आप मान लें कि आत्मा अमर है मैं तो कहता हूं जानने में लगे एक महिला ने मुझे आज आकर कहा कि वो नास्तिक है बुरा नहीं अच्छा है सभी को नास्तिक होना ही चाहिए नास्तिक का इतना ही मतलब है कि जिसका हमें पता नहीं उसे हम कैसे माने नास्तिकता वस्तुता इंकार नहीं है नास्तिकता का मतलब यह नहीं है कि आत्मा नहीं है अगर कोई नास्तिक ऐसा कहे कि आत्मा नहीं है तब तो वो नास्तिकता के बाहर जा रहा है वो एक ऐसी बात की घोषणा कर रहा है जिसका उसने कोई अनुभव नहीं किया वो घोषणा भ्रांत है वो घोषणा निराधार है क्योंकि अब तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया है अनुभव से कि आत्मा नहीं है अनुभव से तो जिन्होंने भी जाना उन सबने कहा कि आत्मा है अनुभवी तो कहता है है हां आपको जब तक अनुभव ना हो तब तक आप कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं बस इतना है अगर आप जोर दे के कहने लगे कि नहीं है तो आप नास्तिक नहीं है आप तर्कयुक्त नहीं है आप बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहे आप अंधे श्रद्धालु आपकी श्रद्धा आत्मा के न होने में लेकिन अनुभव आपको ये नहीं नास्तिक होना बुरा नहीं लेकिन नास्तिक पर रुक जाना बुरा है एक और मित्र दो दिन पहले मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं तो नास्तिक हूं और मुझे कोई बात समझ में नहीं आती आस्तिकता की तो मैंने उनसे कहा कि समझने की जरूरत भी क्या है परेशान क्यों मत समझें छोड़ें लेकिन जाहिर है कि नास्तिकता में तृप्ति नहीं इसलिए समझने की कोशिश नहीं तो मेरे शिविर में आने का क्या प्रयोजन है और मैंने कहा कि अगर नास्तिकता से आनंद उपलब्ध हो रहा हो तो मैं खुद भी नास्तिक बनने को तैयार हूं बोले कि आनंद तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहा तो फिर मैंने कहा कि मुझे कहीं आनंद उपलब्ध हो रहा है मैं कहता हूं इस रास्ते पर थोड़ा चल के देख लो अगर तुम्हें आनंद उपलब्ध हो रहा हो भरोसे से तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते पर चलने को राजी हूं या मैं तुम्हें भरोसे से कहता हूं कि मुझे आनंद उपलब्ध हुआ है चल के देख लो नास्तिकता नपुंसकता है क्योंकि उससे कुछ मिलता तो है नहीं वो सिर्फ निषेध है वो कहती ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है लेकिन उपलब्धि क्या है उससे मिलेगा क्या नकार से पैदा क्या हो सकता है नास्तिकता ऐसे है जैसे एक आदमी खेत में कंकड़ बो दे और मैं उससे कहूं कि बीज देता हूं बीज बो दे वो कहे बीज में हमारा भरोसा नहीं हम तो कंकड़ में भरोसा करते तो मैं उससे ये पूछूंगा कि फसल कहां है अगर तेरे भरोसा कंकड़ों में है तो फसल दिखा क्योंकि फल ही प्रमाण है अंकुर कहां हुए फल कहां लगे फूल कहां आए कंकड़ बोने तक ही काम होता तब तो ठीक था फसल भी कभी काटी अब तक किसी नास्तिक ने कोई फसल नहीं काटी तो अगर कंकड़ बोना ही केवल सुख हो तो बोए चले जाओ लेकिन आदमी बोता इसलिए है कि काट सके आदमी बीज इसलिए डाल सकता है कि वृक्ष कि फूल लगे फल लगे कि कोई तृप्ति हो कि कोई उपलब्धि हो कि कहीं कोई जीवन का रूपांतरण हो निषेध से कोई रूपांतरण तो नहीं सिर्फ कह देने से कि मोक्ष नहीं है कुछ हल नहीं होता इससे आप मुक्त नहीं होते इससे आप बदलते भी नहीं इससे आप कहीं जाते भी नहीं कोई मंजिल उपलब्ध नहीं होती लेकिन मैं नहीं कहता कि आप बिना जाने मान लें मैं कहता हूं कि बिना जाने न तो माने और न न मानने का जोर करें बिना जाने इतना ही समझें कि मुझे पता नहीं और खोज के लिए तैयार आत्मा अमर है ऐसा सिद्धांत कुछ काम का नहीं है लेकिन आत्मा अमर है ऐसी प्रतीति अनूठी और वो आपके भीतर छिपा है तत्व जो आप नहीं थे इस शरीर की भांति तब भी था और जब ये शरीर आपके परिजन परिजन मरघट में जला देंगे तब भी होगा लेकिन उसे पाने के लिए थोड़ा पीछे सरकना होगा थोड़ा शरीर से हटना होगा मन से हटना होगा और थोड़ा अपने भीतर उस केंद्र को खोजना होगा जिसके आगे कुछ भी नहीं है इस केंद्र की खोज ओंकार से ओम से हो सकती है ओम इसकी कुंजी है इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से महान परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित चिंता रहित कोई विरला साधक सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है ये आखिरी बात थोड़ी ख्याल में ले लेनी चाहिए ये बड़ी जटिल है और बड़ी विवादग्रस्त है और इस पर हजारों साल तक चर्चा हुई और दो बड़े मत हैं जो एक दूसरे के विरोधी एक मत कहता है कि अपने ही संकल्प और अपने ही प्रत्न से परमात्मा या सत्य मिलता है जो परम तत्व है वो अपने ही प्रयास और प्रयत्न और साधना और तप से उपलब्ध होता है वो किसी की कृपा से नहीं मिल सकता कृपा का कोई सवाल भी नहीं है इस मत का कहना है और अगर वो किसी की कृपा से मिलता है तो ये जगत फिर बिल्कुल ही एक बेबूज पहली है ये बेहूदी घटना है क्योंकि तब तो ये भी हो सकता है कि जो श्रम करे उसे न मिले और जो श्रम ना करे उसे मिल जाए इसलिए महावीर बुद्ध और उस परंपरा के सारे सिद्ध पुरुष कहते हैं कि किसी की कृपा का कोई सवाल नहीं अपना ही प्रत्न पर्याप्त है कृपा की बात ही थोड़ी गड़बड़ है उसमें थोड़ी रुष्पत की बू है एक आदमी ऐसा हाथ पर जोड़ के मंदिर में और नाक रगड़ के और सिर पटक के और कि तुम पतित पावन हो और मैं पापी हूं ऐसा किस राजी कर ले परमात्मा को और एक आदमी जीवन भर श्रम करता रहे तप करे ध्यान करे और परमात्मा का नाम भी ना ले तो उस पर कृपा कैसे होगी तो महावीर ने तो कहा कि परमात्मा है ही नहीं क्योंकि वो हो तो ये कृपा का उपद्रव साथ लगा रहेगा व्यक्ति का श्रम पर्याप्त है उसका श्रम जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन सत्य उपलब्ध होगा इस बात में थोड़ी सच्चाई और इस बात में अर्थ है इससे विपरीत एक विचारधारा है जो कहती आदमी के हाथ में क्या है आदमी कमजोर है असहाय है अज्ञानी है और इस अज्ञान से भरा हुआ आदमी जो श्रम भी करेगा वो श्रम भी तो अज्ञान में ही होगा इस अज्ञान से भरा हुआ आदमी कमजोर दीनहीन आदमी जो प्रत्न भी करेगा वो प्रत्न भी विराट को पाने वाला कैसे हो सकता है ये हाथ इतने छोटे हैं आदमी के कि उस विराट को अपनी मुट्ठी में ले कैसे पाएंगे सत्य इतना बेबूझ इतना दुर्गम और आदमी इतना कमजोर और इतना अंधेरे में कि प्रभु कृपा के बिना यह यात्रा हो नहीं सकती उस विराट की कृपा होगी तो ही तो ही इन पैरों में शक्ति आएगी और फिर इस दूसरी धारा का यह भी कहना है कि प्रत्न और संकल्प और श्रम सब अहंकार को मजबूत करेंगे कि मैं कुछ हूं कि मैं ही पालूंगा और अहंकार तो बड़ी बात है इसलिए इस अहंकार को जगह मत दो उसकी कृपा उसका प्रसाद उसकी ग्रेस उसकी अनुकंपा से होगा ताकि अहंकार को कोई जगह ना रहे इस दूसरी बात में भी बड़ा सच है ये दोनों बातों में सच है और दोनों बातों में खतरा भी है पहली बात का खतरा है अहंकार और दूसरी बात का खतरा है प्रमाद आलस्य पहली बात का खतरा है कि आदमी अहंकार से भर जाए इसलिए जैन साधु जितना अहंकारी होता है उतना किसी समाज का साधु नहीं होता होगा ही जैन साधु किसी को नमस्कार भी नहीं करेगा जब परमात्मा नहीं है जिसको नमस्कार करनी तो फिर किसको नमस्कार करना जैन साधु सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है नमस्कार नहीं कर सकता झुकने की बात ही में गड़बड़ हो जाती तो जैन साधु जितना सघन अहंकार लेके चलता है उतना कोई साधु लेके नहीं चलता कारण है क्योंकि अपने ही प्रत्न का भरोसा है कोई कृपा नहीं है कोई प्रसाद नहीं है कोई परमात्मा नहीं जिसका सहारा चाहिए अपना ही सहारा है स्वभावतः अहंकार सघन होता है ये खतरा है वो जो कृपा को मान के चलते वो कुछ करते ही नहीं वो कहते हैं जब उसकी कृपा होगी वो हाथ पैर भी नहीं हिलाते वो कहते हैं जब उसकी कृपा होगी वो प्रभु कृपा वाले लोग गहन आलस्य को उपलब्ध हो जाते उनमें विनम्रता होती है लेकिन आलस्य होता है जैन साधु में या इस तरह की धारा में चलने वाले साधु में बड़ी तत्परता होती है श्रम की लेकिन अहंकार होता है प्रसाद को मानने वाले व्यक्ति में विनम्रता होती है भक्त जैसा विनम्र होता है वैसा तपस्वी कभी भी नहीं हो सकता लेकिन आलस से पकड़ लेता है वो कहता है जब उसको करना है करे मैं कौन और मेरे करने से क्या होने वाला ये खतरे मैं आपसे कहता हूं ये दोनों ही बातों को ठीक से समझ के अगर आप पूरा कर सके कि प्रत्न आपको करना होगा फिर भी उपलब्धि उसके प्रयास प्रसाद से होगी तो आपके जीवन में बड़ी क्रांति आ जाएगी प्रयास आपको करना होगा क्योंकि प्रयास ही आपको इस योग्य बनाएगा कि उसका प्रसाद आपको मिल सके लेकिन अंतिम क्षण में प्रसाद से ही घटना घटती है इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई परमात्मा का स्मरण ना करे तो घटना नहीं घटेगी स्मरण से थोड़ी प्रसाद मिलता है परमात्मा को बिल्कुल ही छोड़ दें और सिर्फ प्रत्न करते चले जाएं तो भी एक घड़ी आएगी जब प्रसाद मिल जाएगा कोई परमात्मा इसलिए थोड़ी प्रसाद देता है वहां कोई देने वाला थोड़ी बैठा है कि देख देख के देगा कि किसने मेरा नाम लिया था ये तो एक जीवन की आंतरिक व्यवस्था जिसे 100 डिग्री तक कोई पानी को गर्म करे वो भाप बन जाता है फिर चाहे वो अग्नि देवता को मानता हो और न मानता हो कि अग्नि देवता की पूजा करता हो कि न पूजा करता हो 100 डिग्री पर जब पानी आ जाता है तो बाप बन जाता है तो चाहे कोई परमात्मा को मानता हो या न मानता हो जब 100 डिग्री पर प्रत्न आ जाता है तो प्रसाद उपलब्ध हो जाता है लेकिन अंतिम घड़ी प्रसाद से घटती और ये ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि व्यक्ति एक छोटा सा अंश है इस विराट का इस विराट को पाने में श्रम तो चाहिए लेकिन अकेला श्रम काफी नहीं इस विराट को पाने में श्रम से भी ज्यादा कुछ चाहिए इस विराट का सहयोग चाहिए लेकिन वो मिलता उसी को है जो श्रम करता है यम कह रहा है नचिकेता को कि कोई बिरला साधक ही लेकिन साधक ध्यान रहे साधक का मतलब है जिसने श्रम किया साधना की उसकी कृपा से इस परम तत्व को उपलब्ध हो पाता है उसकी कृपा को कभी ना भूले और अपने प्रत्न को भी कभी ना भूले आपकी प्रार्थनाओं से उसका प्रसाद नहीं मिलेगा आपकी साधना से उसका प्रसाद मिलेगा प्रार्थनाएं बचकानी वो धोखा है प्रवंचना है कुछ किए बिना हाथ जोड़े खड़े कि ये मिल जाए वो मिल जाए मोक्ष मिल जाए सब मिल जाए आपको लेकिन मिलने की कोई पात्रता नहीं सागर को बुला रहे और चुल्लू भर पानी को संभालने की पात्रता नहीं वो अच्छा ही है कि सागर आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं आता नहीं तो आप डूबेंगे आपका उबरना मुश्किल हो जाएगा जिस दिन पात्रता पूरी होती है उस दिन सागर आ जाता है कबीर ने कहा है कि पहले तो मैं सोचता था कि बूंद सागर में खो गई लेकिन अब जानता हूं कि सागर ही बूंद में उतर आया और पहले तो सोचता था कि बड़ा मुश्किल होगा एक बार बूंद सागर में खो जाएगी तो उसको वापस कैसे खोजूंगा और अब तो बड़ी मुसीबत हो गई क्योंकि बूंद सागर में खो जाए तो शायद खोजना किसी तरह संभव भी हो लेकिन जब सागर ही बूंद में खो जाए तो अब खोजने का कोई उपाय ना बचा ये मिटना पूरा हो गया श्रम प्रथम चरण में और अंतिम चरण में प्रसाद ये दोनों सूत्र अगर संभले रहे तो जीवन में वो जो परम विभूति वो जो परम ऐश्वरी है वो जो परम आनंद है वो जो परम चैतन्य है उसके बरसने में देर नहीं लगती लेकिन ये दो विरोधी चीजें साथ जुड़ी हों ये दोनों चाक एक साथ हो तो आपका जीवन रथ मुक्ति के द्वार तक निश्चित ही पहुंच जाता है बैठे रहें कोई बीच से उठे ना जब तक मैं सूचनाएं पूरी ना दे लू for those who can not understand Hindi one special technique for the morning you have to start it from tomorrow morning in the night as I told you you have to do one method with deep exhalation. And while exhaling, making the sound oh for 10 minutes. And then by and by relaxing and falling into sleep. On the next, in the morning, whenever you feel that now the sleep has left you, don't open your eyes. Let eyes remain closed for two and a half minutes. Stretch, strain your body, tense and relax your body like a cat. All the limbs, every cell of the body should become alive. For two and a half minutes, stretch the body, Make every part, legs, hands tense and then relax them. Make them tense and relax them. Tense the body, whole body, and relax the body. Stretch like a cat. Remember, if you have seen a cat stretching, just like that, be a cat. And don't open the eyes so that you can feel the inner body flow, the wholeness of the body the one flow of the body energy. And after this, for two and a half minutes, laugh as madly as possible, as loudly as possible. Go completely mad and don't open the eyes so that you can feel the laughter going through every cell of the body and making it alive. And only then open the eyes and come out of the bed. For this night meditation, remember few things. One, when you are doing it, your hands should be raised towards the sky to receive the grace. Remember, you must be knowing about the principle of gravitation that the earth is pulling you down science will have to come and concede someday that this is only half the truth because energy is must balance if the earth is pulling you down and there is something like gravitation then there must be something like grace which is pulling you up. Grace is the principle which pulls you up, and gravitation the principle which pulls you down. With raised hands, you are receptive and welcoming for the grace to descend upon you. Your eyes have to be fixed towards me staring without blinking. Even if you feel a certain strain, don't be bothered by it. Go on staring at me. Because a deep communion is going to happen. If you go on staring at me, then your eyes will become a bridge, and I can enter you, and you can enter me. A link a deep link is possible. So don't blink the eyes. Thirdly, you have to constantly jump so that the energy becomes a movement within. The energy should not remain static. It must become dynamic. So go on jumping. And I will not be speaking. So I will give you indications by my hands. When I move my hands, bring your energy more and more to your jumping and to your mantra who. Bring your total energy to it. Don't withhold anything. If you are withholding anything, you will miss the whole point. Bring your total, totality to it. And one thing more Sometimes when I will feel that your energies are jumping and have become a dynamic force, and you have become open to the grace. Whenever I, I will feel the moment of tuning, I will put down my palms downwards. Whenever you see that my palms are downwards now, feel as if the divine, the cosmic is descending upon you and in that moment go completely mad with mantra who, with jumping, with your hands raised. You forget that you are there. Just become a flow of energy. Whenever you feel that my palms are downwards, be receptive and go completely mad. In that mad dance, the cosmic can be touched not only that you will touch it the cosmic can touch you it can penetrate you and that penetration will become a pregnancy and the cosmic will become a child within you and it will grow and unless the cosmic the divine grows within you you can never feel the absolute bliss for which the mind hankers, the body hankers, the whole being is thirsty. But remember, again I say to you, bring your total energy to the method. Only then something is possible. When you are totally in it, only then, then the point of evaporation is reached, never before.